जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सबको उसने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए मुसखर किया यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं